विश्वं दर्शनकृष्यमाननगरी तुल्यं जानं कर्तन् कष्टमनैर्वो भूतं यथा प्रबोधसमये स्वात्मा व्रज जन मनो मोहनम मोहनांगम जिससे नित्यम निवसतु महो वल्लवी वल्लभम रेणुकम्पाम् समीक्ष्य मानो जानयेवात्मकृतम् विपाकम् विदधन् नमस्ते जो मुक्ति पदे सदाय हाँ जी के सामने श्याम सुंदर खड़े ये दो पद का जो तक से तब जब तुम बोलते हैं ना तो तुम सामने होता है जरूर तो बोलते मध्यम पुरुष के प्रयोग की ये शक्ति है कि जिससे बात कर रहे हैं वो सामने खड़ा है ये जो युष्मत का ष्ठी एक वचन है तब ये जरा मार दिया कहा दुश्मत कहा अस्मत कहा कल कहा मन कोई शब्द का कोई संबंध है कहा जुस्मत और कहा तव कोई एक अवयव भी तो दुश्मत में से तव में नहीं आया हुआ है दुश्मत शब्द का परिणाम है तव जुस्मत शब्द का विकार है तव कि जुस्मत शब्द का आरंभ है तव नारायण कुछ नहीं तो बस जुस्मत और तव के रूप में जितना अंतर है ब्रह्म और कृष्ण के रूप में भी उतना ही अंतर है जो स्व है वो सम्मुख प्रत्यक्ष होकर खड़ा है बिल्कुल तुम तो भक्ति सिद्धांत में ऐसा माना जाता है हम लोग जैसे यहाँ बैठे हैं तो भगवान के बारे में हमको कैसे सोचना चाहिए मेरे दर्शन समानाकार करते होने जैसे कोई बिल्कुल सामने खड़े भगवान को देख रहा हो ऐसे हमको देखना चाहिए आपको कोई कहानी की बात नहीं सुनाते मनोरंजन की बात नहीं सुनाते आप ये देखो तो भगवान बिल्कुल आपके सामने और बहुत दूर की कौड़ी लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं ये सब सदकार है काले ने गैरवाद कुकल पैर भूपान सभा हे निहिता जो भाषा भगवान के तत्व का उनके गुण का उनके प्रभाव का उनके राज्य का आलोचन करना बड़ा कठिन है ब्रह्मादिकों के लिए सनकादिकों के लिए भी अशक्य प्राय है दुनिया में हमने ये सुना है एक ने समुद्र पी लिया था हमने ये सुना है कि एक ने त्रिलोकी उत्पन्न कर दी थी हमने सुना था कि एक ने वायु को स्तब्ध कर दिया था हमने ये सुना है कि एक ने सूर्य की गति रोक दी थी परंतु हमने अभी तक ये नहीं सुना है कि किसी ने संसार में भगवत गुण का भगवान के गुणों की गणना करने वाले आपने सुना है कभी नारायण तो अशक्य है ना हम लोगों को एक एक इंद्रियों से जितने गुण देखते हैं आप यही कल्पना कर लो कि हमको आंख से रूप दिखता है और भगवान को आपके गंध रस रूप स्पर्श शब्द सब आपसे दिखता है भगवान के एक में सब होता है और सब में एक होता है अब हमारे तो पांच ही ज्ञानेन्द्रिय हैं जरा भगवान का देखो तो दर्शन समानाकार वृत्ति छोड़ो गुणों की गणना छोड़ो तत्वालोचन जिसको देखा ही नहीं उसको नीति कहने का तो तुमको कोई अधिकार ही नहीं पहले देखो फिर कहो कि ये नहीं ऐसा है कि नहीं जैसे हम किसी को ढूंढ रहे हों और कोई आदमी ला के खड़ा कर दे सामने किसी को तो देखो ये तो नहीं ये नहीं जब तक सामने नहीं आएगा तब तक नेति भी कैसे बोले तो नारायण सब तथा ते तव अनुकंपा दूसरी क्षमाण देखो भगवान की अनुकंपा नटनताम नंदन नंदनम एक इसमें आपको तो मजेदार अंतर बतावे संस्कृत के पंडित का ध्यान भी जल्दी नहीं जाएगा यहाँ नटंतम पद जो है वो नृत्यंतम के अर्थ में नहीं है नतंतम नृत्यंतम नंदनंदनम ऐसे बोल सकते थे नृत्यंतम नंदनंदनम नाचते हुए नंदन अच्छा नटती से सत्री प्रत्यय करके नटती इति नटंतम नटंतम नटती इति नटन तम नटंतम ऐसा भी नहीं यहाँ नटंतम जो है वो नटवत आचरंतम नट इव आचरती इति इति नटते नटवत आचरते नट की तरह आचरण कर रहा है जैसा है वैसा नहीं दिख रहा है इंद्रो मायावी पूर्व रूप ही है इंद्र अपनी माया के द्वारा हरेक रूप दिखाई पड़ रहा है ये संस्कृत भाषा में जैसे ये दिन है ना दिन शब्द तो ऐसे बोल सकते हैं बिनती रजनी रजनी जो है रात जो है वो दिनती दिनवत आकर अति इतना प्रकाश है रात में कि वो दिनत दिनती दिन बन रही है दिनती रजनी दिनती दिनवत आकर तो नारायण ये ये नकमन आचरण ये विश्व का जो दर्शन है ये क्या है ये भगवान का नकवत आचरण है न सशब्दो सेवा हमने कश्मीरी सही दर्शन के सिद्धांत का आलोचन किया है वो कहते हैं भोक्त भोग्य भावे न सदा सर्वत्र संस्थित तेन शब्दार्थ चिंतासु न स न यह शिव भोक्ता जो महेश्वर है वही भोग्य रूप से सर्वत्र अवस्थित है भोक्त भोग्य भावे न सदा सर्वत्र संस्थित तेन शब्दार्थ चिंतासु न सशब्दो न यह शिव इसलिए जब हम शब्दार्थ का चिंतन करते हैं आपको तो क्या बताएं कक्कड़ों की बात ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो भगवान का नाम ना हो न तो से शब्दों न जब और ऐसा कोई रूप नहीं है जो भगवान का रूप न हो संस्कृत भाषा में ऐसा सामर्थ्य है कि आप कोई भी शब्द बोलो अंततः उसका भगवान में परिवर्तन हो जाएगा घटा घट शब्द का तो घड़ा है तो नहीं नहीं थे घट चेष्टाया थे चेष्टे थे निखिलम जगत इति घटा पर्वत शाब्द बोध देख जो सारे जगत को नचाता है पट पटवत आवरणों से निखिलम जगत यदि पटह परमात्मा मठवत निवास स्थानम यदि मठ परमात्मा भवत्यस्मा यदि भव परमात्मा भवती भव प्रपंच सर्व भगवत रूप इसमें जितना राग द्वेष है वो सब अज्ञान मूलक मन की मलिनता है जहां जहां हम श्रेष्ठ समझ के फंसते हैं वहां भी अज्ञान मूलक मलिनता है और जहां जहां हीन समझ करके द्वेष करते हैं वहां भी अज्ञान मूलक मन की मलिन आओ जरा प्यार की नजर से देखो सब मालूम पड़ेगा प्यार वस्तु को संवारता है आपका बच्चा अगर कभी चोरी करे झूठ बोले और कोई बात छिपावे और आप आपकी बुलाना देने के लिए आ गए तो देखो माँ कैसे संवारती है कभी बोला है समझता नहीं है अरे ये किसी की कुसंग से ये बात आ गई होगी इसमें जिसका दोस्त थोड़ा ही है तो बाबा आप अपने बच्चे के दोस्त को इतना सवार सवार के क्यों बोल रहे हैं बोले बाबा बच्चे से प्यार तो यदि आपका भगवान से प्यार है तो आपको भगवान की प्रत्येक कृति में भगवान की प्रत्येक रचना में भगवान के प्रत्येक रूप में भगवान के प्रत्येक नाम में वो सौंदर्य जो माँ को अपने शिशु में वो कवि को प्रकृति में जो प्रेयसी को अपने प्रियतम में जो सौंदर्य दिखता है वो सौंदर्य आपको सृष्टि के कण कण में दिखेगा आपके हृदय में सौंदर्य होगा आपके हृदय में औदार्य होगा आपके हृदय में सौशील्य होगा देखना सत्य नुकंपा भगवान सोए हुए से हो बड़े आराम से न कोई सृष्टि थी न वृष्टि थी कोई गड़बड़ नहीं वो सांस जरा जोर से चलने लगी तो हर घड़ाहट होती है ना सांस वो जो भगवान की नींद में जो सांस की घरघराहट है उसका नाम लोगों ने वेद रख दिया निस्वसित मत्स्य वेदा अस्य महत्वभूत निस्वसित वेतन यद ऋग्वेदो यजुर्वेद स्थान वेदो धर्मांगिरत इतिहास पुराणम वेद ही कहता है कि मैं तो ईश्वर के नाक की घरघराहट हूँ निश्वसित हूँ वाचस्पति मिश्र ने कहा निश्वसित मत्स्य वेदा तो अपने नाक की घरघराहट सुन के जरा नींद टूटी आख खोल के देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है तो दीक्षित मेरे तो पंचभूत आ जब प्यार भरी नजर से देखा भगवान ने तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के आश्रय रूप द्रव्य दिखाई अपनी आंखों की रचना देखकर मुस्कुरा पड़े अपनी चितवन का कौशल ये आंखें क्या क्या कर देते हैं अपनी चितवन का अपनी दृष्टि का अपने ईक्षण का अपने वीक्षण का वीक्षित में सत्य पंचभूतानी कौशल देख करके भगवान मुस्कराए स्मित तो मेतस के चराचरम जो मुस्कुराए तो ये थावर जंगम सारी सृष्टि सामने आ गई स्त्री पुरुष माँ बेटे पति पत्नी पशु मनुष्य सब सामने आए बोले ओ हो हमारी नजरों में हमारी चितवन में और हमारी मुस्कान में इतनी शक्ति परंतु देखने और मुस्कुराने में श्रम हो गया थक गए हाँ, इतने कोमल हैं इतने कोमल हैं कि एक बार आंख खोल के देखने में भी थक जाते हैं एक बार प्रेम भरी मुस्कान से भी थक जाते हैं उनकी कोमलता उनकी मृदुलता तो देखो स्वस्थ तो सुप्तम महाप्रलया फिर आंख बंद करके सो गए सो गए तो महाप्रलय हो गया निश्वसितमस्त वेदा वीक्षितमेत पंचभूतानि स्मितमेत चराचरम अस्य महाप्रलय अब देखो अनुकंपा वीक्षमा तु समीक्षमा सचमुच भगवान ने प्यार में फरकर सबके विषय बन गए हो लोग भगवान को देखते हैं भगवान को सुनते हैं भगवान को छूते हैं भगवान का स्वाद लेते हैं भगवान को सुनते हैं तो भगवान ने कहा कि हमको पहचानेंगे तो शायद संकोच करें वो अपनी पहचान ही छिपा दें तो भाई हमको पहचान जाएंगे तो जरा हमको बड़ा समझ के सोचेंगे कि इनको चूमे कैसे हाँ इनको छूए कैसे है ना संकोच हो जाएगा तो अपने बड़प्पन को छिपा दिया और सबके बहुत के बनकर सारी सृष्टि के रूप में प्रकट हो गए इंद्रो माया गुरु रूप ही है गुरु रूप ही है तो बहुरूपिया दिखता है ये उसी बहुरूपिया के रूप हैं तत्तेनुकम्पाम सुसमीक्षा तो ये नृत्य करते हुए नृत्य गोपाल का ये नृत्य गोपाल की जो किरकन है उसका नाम संसार है नृत्य गोपाल की किरकन है ये दुनिया क्या है और ये हृदयेश्वर भगवान के संकल्प है बोला ये विराट के अवयव है ये प्रपंच क्या है अब बोले विराट का अवयव है तो ये हृदय गर्भ का संकल्प है अच्छा आप कहा हैं एक बात आपने सुनी होगी बहुत मार्कंडे ऋषि शिशु के पेट में चले गए ये बात तो आपने बहुत सुनी होगी प्रलय के समय पर वृक्ष के पत्ते पर सोए हुए बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी बाल मुकुंद के पेट में मारकंडे जी घुस गए और वहां देखा उन्होंने ब्रह्मांड अच्छा राम भगवान के पेट में घुस गए कहा घुसुंडी रामचरित मानस में कथा आई है तो उसमें देखा ब्रह्मांड जो सोदा मैया ने श्याम सुंदर से कहा कि बोलो मुख तो उसमें दिख गया ब्रह्मांड उसमें एक व्रज विधि का व्रजम सहात्मानम शंका श्री कृष्ण के मुंह में व्रज भी दिखा और जसोदा भैया भी दिखे आपका ध्यान खींचते हैं बना अर्जुन ने भगवान विराट के शरीर में भीष्मंच द्रोणंच जयद्रथंच सबको देखा एक तो विराट के अवयव में समूची सृष्टि को देखना और एक हिरण्य गर्भ के संकल्प में समूची सृष्टि को देखना और एक राम के पेट में सारे ब्रह्मांड का होना कृष्ण के पेट में सारे ब्रह्मांड का होना बाल मुकुंद के पेट में सारे ब्रह्मांड का होना अच्छा आप जरा बताइए आज नहीं कल बता दीजिएगा सोच विचार के बता दीजिएगा कि भगवान के पेट के भीतर जो ब्रह्मांड होते हैं उन ब्रह्मांडों में ये पृथ्वी है और उसी में ये बम्बई है और उसी में ये हाल है और उसी में बैठ करके हम लोग ये कथा वार्ता कह सुन रहे हैं कि नहीं अब बताओ उत्पण गर्भगत कितनी अच्छी जगह हम लोग बैठे हुए हैं कहा तो भगवान के एक रोम रोमकूप में देखो ये विराट हुआ भगवान के रोम रोमकूप एक एक रोम रोमकूप में वो वो अपना स्वरूप है जरा ढूंढो अपने को ढूंढो तो मालूम पड़ेगा सत्य नुकम्पा सुसमी क्षमाण ईश्वर का माया मूलक जरा सा हिलना ये सृष्टि है ईश्वर का माया मूलक जरा सा हिलना ये सृष्टि है हिरण गर्भ का संकल्प ये सृष्टि है विराट के अवयव में ये पंचभूत ये सृष्टि है आखिर हम कहाँ हैं ईश्वर हमसे अलग हो गया है ईश्वर हमारे सामने भी है हमारी मुट्ठी में भी है हमारे दिल में भी है हमारी आत्मा भी है केवल पहचान ही नहीं है ईश्वर की भला इसी को बोलते हैं नित्य प्राप्त होने पर भी अज्ञान के कारण ईश्वर अप्राप्त हो रहा है नित्य निवृत्त होने पर भी ये प्रपंच प्राप्तता हो रहा है देखो भगवान की कृपा सुसमी क्षमाण प्यार से समार लो ज्ञान में संवारने का सामर्थ्य नहीं है प्यार में संवारने का सामर्थ्य है ये दोनों में विशेषता है ज्ञान जो चीज जैसी होती है उसको वैसा दिखाता है ये ज्ञान है और कुरूप को स्वरूप बना ले असुंदर को सुंदर बना ले दूर को निकट बना ले पराये को अपना बना ले उसका नाम प्यार है दोष को गुण बना ले कुरूप को स्वरूप बना ले है? निराकार को साकार बना ले दूर को निकट बना ले देर को वर्तमान बना ले ज्ञान प्रकाशक है और प्रेम समर्थ है देखो हर जगह भगवान की कृपा देखो भगवान की कृपा देखो भगवान का प्रेम देखो जब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि इस क्रिया में हमारे प्यारे का हाथ है अच्छा आपके घर के दरवाजे पर कभी कोई लाश पड़ी हुई मिले नाराज नहीं होना बोला तो आपके मन में आवेगा कि तुरंत पुलिस को खबर दें हल्ला करें पड़ोसियों को बतावें थोड़ी देर के बाद मालूम हो कि ये तो हमारे पति ने हमारे भाई ने हमारे पुत्र ने हमारे पिता ने ये मार के डाला है तुरंत आपके मन में छिपाने की आ जाएगी जिसको छिपा ले आज तक दुनिया में अपनी माँ का पेट किस बताया है अपनी माँ का पेट कौन नहीं छिपाता ये प्यार है गुण प्रगटे अवगुण हिंदू रावा देश लेस मन संकन धरही बल अनुमान सदा हित करही जाके अस मसी सहजन भाई सो सख हठ कत करत मिताई प्रयच्छ मैत्री दृशम बंधो हे बंधो हे प्रभु हमें मैत्री दृष्टि प्रदान करो प्रयच्छ मैत्री दृशम भागवत का श्लोक है स्त्री दृशम बंधो हमको मित्र की दृष्टि दो मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षता मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षे समीक्षा मय ये मित्र दृष्टि है देखो कि अपने प्यारे का हाथ है तुम्हें जो बुरा लगता है वो मीठा हो जाएगा कब जब तुम देखोगे कि तुम्हारे प्यारे का बनाया हुआ है जो तुमको कड़वा लगता है वो मीठा लगेगा ऐ क्या देखते हो तुमको ये पता नहीं किसने बनाया है अरे प्रेम की चर्चा मुंह पर मत लाओ इसको हृदय में अनुभव करो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग बपुर विदधन नमस्ते जीवे सजो मुक्ति पदे सदाय भाव बोले भोग करो भोग तो किसका जो भगवान देता है आनंद से लो संजोग दे तो वियोग दे तो एक आपको ये संसारी लोग भूल में पड़ गए हमारे महाकवियों ने नव रस माना हुआ है बोला नाट्य में भी आठ रस तो मानते ही हैं वो तो जिसके पीछे तुम लोग बहुत पढ़ते हो उसी को रस नहीं मानते नाट्यकार लोग जो हैं वो तो शांत को रस ही नहीं मानते वो तो बड़ी कृपा करके भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में एक जगह लिख दिया कि शांतोपी नवमो रसम नहीं तो नाट्य अष्टौ रथा स्मृता नाट्य में आठ ही रस होते हैं शांत रस ही नहीं होता रंगमंच बने और उस पर आके कोई सिद्धासन लगा के और ऐसे अंगुली करके और यो बैठ जाए तो वहाँ शांत रस आवेगा कि रसाभास हो जाएगा अभिनय होने से वो सच्चा नहीं हुआ ना तो रसाभास हो जाएगा इसलिए नाट्य में शांत रस को रस मानते ही नहीं है पर एक बात भूल गई है उसकी तरफ आपको ध्यान दिलाता नाट्य में भयानक भी रस है रौद्र भी रस है विभक्त भी रस है वीर की बात तो छोड़ देते हैं वीर में तो उत्साह होता है इसलिए उसका रस होना स्वाभाविक है श्रृंगार रस है करुण रस है हास्य रस है वीर रस है ठीक परंतु क्या आपने ये नहीं देखा कि उसमें रौद्र रस है उसमें भयानक रस है उसमें विभत्स रस है उसमें करुण रस है वो करुण रस है करुण ऐसा वियोग होना कि फिर कभी संजोग हो गई जिसको भी रस बोलता है हे भगवान आप क्या रसास्वाद करोगे जब रस को आप पहचानते ही नहीं हो कि रस क्या होता है और नृसिंह के गले में हिरण कशिपु की अतड़ी पड़ी है और खून से लथपथ है और देख देख के मजा आ रहा है ऐसा कुबलिया पीठ हाथी को कृष्ण ने मारा उसी के दांतों से उसको पिटहास लिया और खून की बूंदें शरीर पर पड़ी हुई और वही रक्त से लथपथ दांत कंधे पर रखे हुए और रंगमंच पर प्रवेश करते हैं और ये विभक्त दृश्य रसाधायक हो जाता है है ना रस हो जाता है अच्छा क्रोध आता है क्या आपको मालूम नहीं है जब दशरथ जी मर जाते हैं सारी अयोध्या में कोहराम मच जाता है सीता राम लक्ष्मण पैदल वन के लिए निकलते हैं ऐसे दृश्य को देख करके आप रोने लगते हैं अच्छा आधा घंटा के बाद क्या होता है हाँ हाँ बड़ा मजा आया तो जब आपको ये बात मालूम है हाँ, हम पहले बचपन में लंका कांड पढ़ते थे रामायण का तो वो तीन बाण मारा और वो पांच बाण मारा और वो गिरा और वो सिर कटा और वो बाण पर सिर जा रहा है ऐसा मजा आता पढ़ पढ़ के उस भयानक में उस विभक्त में उस रौद्र में उस करुण में यही तो जीवन का रहस्य है आप काव्य में जब रस ले सकते हो वैसी घटना आने पर तो आपके जीवन में भी बिल्कुल काव्य की तरह ही नाट्य की तरह ही वैसी घटनाएं घटित होती हैं क्यों नहीं रस लेते उसका रस लेना चाहिए ना हमने मैसूर में देखा वहां की चित्रशाला में क्या बढ़िया बढ़िया चित्र बने हुए श्रृंगार का रस देखो तो मन में गुदगुदी होने लगती है करुणा का चित्र देखो तो आंख में आंसू आने लगता है? वीर रस का चित्र देखो तो मन में उत्साह आता है हाँ रौद्र का चित्र देखो तो गुस्सा आने लगता है हाँ, वैसा वैसा मन हुआ और जब चित्रशाला से निकले तो बोले बड़ी सुंदर चित्रशाला है आहा क्या मजा आया और तुम ईश्वर की चित्रशाला देख रहे हो ईश्वर के हाथ की करामात ईश्वर के कलम की करामात उसका नाट्य उसका संकल्प उसकी रचना उसकी कृति और इसमें सबका हो भोग ही करना मजा ही लेना सबका किसी चित्र को देख करके तन्मय हो जाना उसके लिए रो देना हंस देना मजा ले लेना और बाहर निकले तो सबकी प्रशंसा की वाह वाह कैसी रचना है यही जीवन का है ये केवल काव्य में लिखा रहने के लिए नहीं है नवरस की अनुभूति और ये भोजन में कभी खटाई तो कभी मिर्च तो कभी नमकीन तो कभी मीठा इसका आप स्वाद लेते हैं कि नहीं खटरस का स्वाद है कि नहीं भोजन में और कोई कह नहीं हम खीरे ही खीर खाएंगे तो भोजन का मजा आवेगा तो जैसे भोजन में सदरस मजेदार है वैसे जीवन में भी कभी खट्टा मुंह कभी खट्टा ही हो गया आ, हाँ, कभी मुंह का जायका बिगाड़ गया कभी मुंह कड़वा हो गया कभी मुंह मीठा हो गया कभी नमकीन हो गया ये जीवन का मजा लेते चलना ये रसास्वाद है क्योंकि ये हमारे प्यारे की रचना है चटनी उसने पीसी है अपने हाथ से मिर्च उसने अपने हाथ से तल के दिया है करेला उसने गढ़ा है हो आपको करेला बनाना हो तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी करेला उसने बनाया है ये खटरस का रसास हुआ नवरस है खटरस है ये क्या है का अनुकंपा है ये प्यारे के हाथ की रचना है बाघ बकुर बिर विदधन नमस्ते भरद्वाग बबुर्भिर विदधन नमस्ते ये हृत है ना हृत हृत माने हृदय असल में ये हरि भी यही है हर भी यही है संस्कृत भाषा की दृष्टि से अर्थ में कोई बहुत अंतर नहीं है हरती हरि हरती हरहा हरती हृत हरती हृत हरी धातु से दुख हो गया हृत हृत धृत हरती धृत हरती हृत करती कृत हाँ, करोती करोती कृत तो हृत माने क्या होता है कि जैसे हम दुनिया में देखते चलते हैं ना सब देखते चलते हैं सब सुनते चलते हैं चखते चलते हैं करते चलते हैं तो ये हमारे दिल में एक चोर बैठा हुआ है हम तो ऐसा समझते हैं कि हम ये सड़क छोड़ के चले गए लेकिन वो इस सड़क में से कुछ चोरी करके रख लेता है हमारे दिल में एक चोर बैठा हुआ है वो हरत हरति संस्कारान विषय संस्कारान हरति इतिहृत हम तो देख के निकल गए हम समझते हैं कि हम ग्रांट रोड छोड़ गए लेकिन बाद में ग्रांट रोड की याद आती है अरे क्या है भाई जैसे एक कोई माता थी वो अपने बच्चे को लेकर के किसी दुकान में गई तो वो तो समझती थी कि हम दुकान देख के चले आए पर घर में आके बच्चे ने जेब में से चीजें निकालनी शुरू की अरे बेटा ये कैसे का मैं चुरा के लाया हूँ हाँ, दुकान में से चुरा के लाया तो ये हमारा मन है चोर ये इंद्रियां जो देखती हैं सुनती हैं छूती हैं सुनती हैं खाती हैं पीती हैं उनके उनमें से एक संस्कार चुरा लेता है और वही समय पर स्मृति के रूप में प्रकट होता है करोती हरती हरती धरती ये हृत है तो अब एक बात यहाँ बताते हैं हरद्वाग बबुर फिर विदत नमस्ते हृदय को नम कर दो नम कोई चीज है ना चुराने न पावे ईश्वर के सामने नम कर दो नम ये नमक शब्द है ना नमक ये संस्कृत का ही है बोला ऐसा नहीं समझना कि नमक शब्द कहीं अनुसार है नम प्रभिभाव है नमयती पदार्था जो चीजों को गीला कर दे उसका नाम नमक गीला करता है कि नहीं किसी चीज में नमक पड़ जाए तो बिल्कुल गल जाए और गल जाए नमक पड़ने से चीज गलती है गलाने वाला होने के कारण इसको नमक बोलते हैं ये कृदंत में दो प्रत्यय होते हैं तो यू और भू दो प्रत्यय होते हैं यू वो रना कऊ अणबुल होता है तो नमन और नमक दोनों शब्द बनते हैं नमनम नमका ये एक तो है नमन नमन माने नम होना झुक जाना और एक है नमक नमक माने झुक जाना हाँ, साधकता तो हमारा हृदय झुक जाए नमन करे हर जगह परमात्मा को देखे क्या सुंदर क्या सुंदर क्या सुंदर हाँ, एक महात्मा जा रहे उनके पीछे पीछे उनका शिष्य जा रहा पारसमणि में एक कथा है पारस भाग में फारसी की किताब है वो बहुत अच्छी बहुत बढ़िया तो शिष्य ने कहा कि महाराज इस रास्ते मत जाओ सीधा प्रश्न गुरु ने कहा क्यों क्या बात है देखो कुत्ता मरा पड़ा है उसकी लाश सड़ रही है दुर्गंध है उधर से मत जाओ तो गुरु जी ने कहा कि देख कितना पुण्यात्मा होगा वो क्या चमचम चमकते हुए दांत उसके मुंह के दिख रहे हैं इतना सुंदर दांत क्या ईश्वर की कृपा कम होने से मिल सकते हैं अरे वो तो ईश्वर का कृपा पात्र था देखो ना मरे हुए कुत्ते के मुर्दे में जो दांत सफेद दिख रहे हैं उनमें भी ईश्वर की कारीगरी देख लेना अरे भाई झुकाए रखो कठोर मत करो तो यहाँ झुकाना तीन तरह का है हरित तो बाघ बपुर भी शरीर से भी झुकना वाणी से भी झुकना और हृदय से भी झुकना हृदय में अभिमान न होना झुकना है और वाणी में विनय होना झुकना है और शरीर का उद्दंड न होना उद्दंडता पूर्ण कृत्य शरीर से न करना संस्कृत में साहस शब्द का जो प्रयोग है ना साहस माने मर्यादा का उल्लंघन इस अर्थ में आता है संस्कृत साहस नहीं करना साहस माने दूसरे का धन ले लेना ये भी साहस है तो संस्कृत में माने दाय भाग जो संस्कृत का ना दंड विभाग दंड विभाग दाय विभाग जो संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र में है उसमें साहसे दंडा कोई साहस करे तो उसको दंड देना चाहिए ये आजकल अच्छे काम में भी साहस का प्रयोग हिंदी में होता है तो उसका हम विरोध नहीं करते हैं हम तो जरा पुरानी भाषा का वो नमूना बताते हैं भले हिंदी में साहस शब्द का प्रयोग हो गए अच्छे अर्थ में हो गए कहीं ये लोग उत्साह के अर्थ में साहस शब्द का प्रयोग करते हैं परंतु उत्साह दूसरी चीज है और साहस दूसरी चीज है और सहसा से भी साहस बनता है वासनाभिष्ट हो करके एकाएक कोई काम कर बैठे वो भी साहस होता है हृदय में अभिमान ये ईश्वर के आदर्शन की पहचान है जो ईश्वर को पहचानेगा वो अभिमान नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर कोई सिफत उर्दू का शब्द है ना उर्दू में बोलते हैं क्या विपद कोई विशेषता कोई खास गुण हमने तो वो उधर लखनऊ की तरफ खसूसियत शब्द भी सुना है खास खसूसियत कोई सिफत कोई विशेष संस्कृत भाषा में इसी अर्थ में विशेष शब्द है विशेषता नहीं विशेष ही है बोला उनके अंदर क्या विशेषता है संस्कृत में ऐसे बोलने की पद्धति नहीं है तस्मिन का विशेषता ये संस्कृत बोल में बोलने की पद्धति है तस्मिन को विशेष हाँ, ये बोलने की पद्धति है उसमें विशेष क्या है खास बात क्या है उसमें सिफत क्या है तो अपने में सिफत विशेषता तभी तक मालूम पड़ती है जब तक ईश्वर को नहीं देखते हैं जब तक अपने में बड़प्पन भास है तब तक समझना ईश्वर नहीं दिखा हम आपको सच बताते हैं ये जो आत्मा है ना सबके भीतर ये निर्विशेष ही है निर्विशेष है तब अभिमान किस बात का तो बोले कि जो विशेषता हमारे अंदर है वो मच्छर में नहीं है अरे भाई तो मच्छर में जो विशेषता है सो भी तो तुम में नहीं है तो उड़ो मच्छर की तरह आसमान में उड़ना आता है तुमको कि नहीं आता है तो मच्छरों में जितनी एकता होती है संगठन जैसा होता है वैसा करके बता दो तो ये मनुष्य का जो है ना प्रमा प्रमा भ्रमाभ्याम रहते पादमूले मधुद्विषा प्रमा और भ्रम दोनों की जहाँ गति नहीं है प्रमा भ्रमाभ्याम रहते विद्या अविद्या दोनों की जहाँ गति नहीं है प्रमा माने विद्या और भ्रम माने अविद्या विद्या अविद्या दोनों जिसका स्पर्श नहीं कर सकती उस पर परमात्मा को जिसने देख लिया अरे ये अभिमान काहे का ये हृदय चोर है हाँ, काय का चोर है ये लोगों की यादें चुरा चुरा के अपने अंदर रखता है अरे कोई मिला चला गया कोई आया कोई गया कोई पैदा हुआ कोई मर गया अरे होने दो जो होता है तुम ये याद चुरा चुरा के क्यों रखते हो अरे दया बोले इसको परमात्मा के साथ जोड़ रिद को रद बना दो रद इसमें से काली काली रद में से संस्कृत भाषा में एक दहर शब्द है वो दहर दहरम पुंडरीकम वेस्म उपनिषदों में आता है रेत रद तर तो दह भी बोलते हैं ना वहां पर काली दह वो तो दह है काली नाक को निकाल दो हृदय में से केवल श्री कृष्ण का लीला विलास होने दो ये जो इंद्रियों के द्वारा विषयों का अनुभव किया गया उसका जो संपर्क है हृदय में यही जल का विषयलापन है वाक वाक में विनय क्या है सत्यंत सुंदरता बाणी अरे नारायण बोले हम सत्य बोलते हैं एक हमारे मित्र हैं वो सत्य बोलने में ऐसा कर देते हैं बोलते तो सत्य हैं उनको हम झूठा तो नहीं कह सकते लेकिन सत्य बोलने में ऐसा कहते हैं कि इनका सत्य उनको बताया और उनका सत्य इनको बताया और दोनों में लड़ाई हो गई <laughs> दोनों में राग द्वेष हो गया इसका नाम सत्य नहीं है ना इसका नाम सत्य ही नहीं है जिस वचन से लोगों के हृदय में राग द्वेष की उत्पत्ति होती हो वो सत्य वचन नहीं है वो तो मिथ्या वचन है सत्य न लभ्य तपसा ये आत्मा इस श्रुति की व्याख्या में मुंडक मुंडकोपनिषद में भगवान शंकराचार्य ने लिखा है कि मिथ्या मत बोलो ये तो ठीक है लेकिन जो सत्य सत्य है सो बोलते जाओ ये तो बेवकूफी है और शंकर भाष्य देखने लायक है जो सत्य सत्य हो तो बोलते जाओ ये तो बेवकूफी है कि नहीं है ना मिथ्या मत बोलो आखिर बोलना ही बोलना तो धर्म नहीं है ना न बोलना भी तो धर्म है मौन भी तो धर्म है केवल बोलना धर्म नहीं है न बोलना भी धर्म है तो प्रियंच सत्यंच सुंदरता मधुर और प्रिय बात मनु जी ने क्या निर्णय दिया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन ये सनातन धर्म है सत्य बोलो किंतु प्रिय बोलो न ब्रूयात सत्यम अप्रियम अप्रिय सत्य मत बोलो तो प्रिय नामृतम ब्रूयात लेकिन प्रिय बनाकर झूठ मत बोलो बोला झूठ बोलना सर्वथा मत है ये सनातन धर्म है श्री उड़िया बाबा जी महाराज एक श्लोक बोला कर सकते हैं उनका स्मरण बड़ा संस्मरण बड़ा पावन है न तत्व वचनम सत्यम न तत्व वचनम मृषा यदूत ए तत्सत्यम मतम मम न तत्व ज्यो का त्यों किसी बात को कह देना इसका नाम सत्य नहीं है और जो बात जैसी नहीं है उसको वैसा कहना इसका नाम मिथ्या नहीं है <clears throat> ना तत्व वचनम मृषा न तत्व वचनम सत्यम ना तत्व वचनम मृषा यदूत हितम अत्यंतम एक सत्यम मतम मम जिसमें प्राणियों का परम कल्याण हो जिससे उनका भय मिटे सो बताओ ये जो डॉक्टर कह देता खांसी आई लोगों को और कह दिया कि टीबी होने का डर है भय का उत्पादन जो है ना भय का उत्पादन धर्म नहीं है चिकित्सा करना धर्म है सावधान करना धर्म है सावधान करना धर्म है परंतु भय उत्पादन धर्म नहीं है किसी की बुराई बोल दी बोले मैं सच बोलता हूँ झूठ नहीं बोलता हूँ द्वेष हो गया किसी के हृदय में द्वेष पैदा करना धर्म नहीं है ये तो किसी के घर में आग लगाना है और किसी के हृदय में राग उत्पन्न करना धर्म नहीं है क्योंकि वो तो फसाना है किसी के हृदय में अभिमान उत्पन्न करना तारीफ कर करके झूठी तो ये धर्म नहीं है और बेवकूफ बना देना किसी को झूठ बोल करके अज्ञान में फंसा देना तो ये धर्म नहीं है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश को बढ़ाने वाला जो काम है वो अधर्म है और अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश को क्षीण करने वाला जो काम है उसको धर्म बोलते हैं